फिर ये उनकी अहद शिकनी ही तो थी जिसकी वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर किया और उनके दिलों को सख्त बना दिया वो बातों को अपने मौका महल से हटा देते हैं और जिस बात की उनको नसीहत की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा भुला चुके हैं और उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर तुम्हें आए दिन उनकी किसी न किसी खयानत का पता चलता रहता है लिहाजा फिलहाल उन्हें माफ कर दो اور درگزر سے کام لو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے